या उन्होंने अल्लाह ताला के सिवा मबूद बना रखे हैं आप कह दें अपनी दलील लाओ ये उन लोगों की नसीहत भी है जो मेरे साथ हैं और उनकी नसीहत भी जो मुझसे पहले थे बल्कि उनमें से अक्सर हक नहीं जानते चुनाचे वो मुंह मोड़ने वाले हैं